तो क्रिया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया तप से स्वाध्याय से ईश्वर प्रणिधान से इनको तनु बनाते हैं जैसे कोई एक ऐसा कोई उदाहरण दो जिससे वो बात और निकटता से समझ पाए हाँ जी बोलो जैसे अविद्या का पहला भाग है अनित्य में नित्य को देखना हम्म। अनित्य पदार्थों को नित्य मानना हम्म। तो उस संदर्भ में व्यवहार काल में यह ज्ञान बन नहीं पाता कि ये जो पृथ्वी आदि है ये जो शरीर आदि है अनित्य है मैं कभी मरूंगा नहीं या ऐसा ही बना रहूंगा इस तरह के भाव को स्वाध्याय के द्वारा शब्द प्रमाणों के द्वारा अच्छी तरह से निर्णय करके व्यवहार काल में बार बार बार बार इसको अनुष्ठान करने से और ईश्वर आदि नित्य पदार्थों में अपना प्रणिधान बनाने से इस क्रिया योग के द्वारा जो है बाधकों को दूर किया जा सकता है जैसे कि यह शरीर अनित्य है यह पृथ्वी आदि भी अनित्य है पहले कभी बनी थी और आगे भी नष्ट हो जाएगी इस तरह के विचार बार बार जब जब अविद्या उभरती है और उससे राग द्वेष उभरते हैं तब तब व्यक्ति ऐसे सोचता है विचारता है कि ये मेरे मन में जो विपरीत इच्छा उत्पन्न हुई है ये अविद्या के कारण से हुई है वो ये देखता है उस इच्छा को रोकता है ये अविद्या से उत्पन्न हुई है इच्छा और आगे देखता है मेरी असावधानी के कारण से हुई है ये अविद्या आई अविद्या आई या जीवात्मा उसको ले आया हाँ जी रणबीर जीवात्मा ले आता है स्वामी जी तो वो क्या करता है मैंने ये विद्या उत्पन्न की चाहे संस्कार से की हो या तमोगुण से हो गई हो तो वो उस उत्पन्न अविद्या से टकराता है ये जो विपरीत इच्छा हुई है यह अविद्या के कारण से हुई है और इस अविद्या के विरोधी तत्व को ढूंढता है कि विद्या क्या है फिर उनका विद्या तो ये है वो देखता है एक उदाहरण देते हैं विषय भोगों में सुख ये इच्छा उत्पन्न हो गई तो उसने देखा विषय भोगों में सुख है ये मैंने इच्छा की अविद्या के कारण नहीं विषय भोगों में दुख है सुख नहीं है शब्द प्रमाण है इसलिए मैं विषय भोगों में सुख बिल्कुल नहीं मानूंगा अपने अंदर के उभरे हुई इच्छा को उन विचारों को मान्यताओं को वो धक्का मारता है चोट मारता है नहीं उखाड़ा उसको विरोधी है ये इससे क्या है वो जो इच्छा हुई थी भोगों की तनु हो गई कमजोर पड़ गई जीव आत्मा यदि इनको थोड़ा सा सहयोग देता है तो खतरे की घंटी बज जाती है क्या समझे साधक जी हाँ जी विशाल जी आप कैसे पास में बैठे हो जीवात्मा अपने कुसंस्कारों इन विरोधी तत्वों को अज्ञान को कुसंस्कारों को अधर्म को यदि जीवात्मा थोड़ा सा संयोग भी संयोग देता है तो जीव आत्मा उसको रोकने में असमर्थ हो जाता है जीवात्मा के ऊपर आपत्ति आके टूट पड़ती है जीवात्मा जो है संकट में पड़ जाता है इतना ही समझ लो या नहीं आज समझ ये कैसे सहयोग देता है इसको देखना चाहिए साधक जी आपका दृष्टांत ले लू बुरा तो नहीं मानेंगे हैं? किसी ने कहा साधक जी कई बार उत्तेजित हो जाते हैं कई बार क्रोध करते हैं हम्म, फिर कह दिया और फिर दूसरी बार दोहरा दिया तो साधक जी कहने ये तो बहुत कहा इसने इतना तो नहीं तो साधक जी कहते वो तो कभी कभी करता हूं मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा क्रोध आता है अब वो साधक जी ने अपने क्रोध को सहयोग दे दिया वो क्रोध जट उत्पन्न हो जाएगा हाँ आपने ठीक कहा मैंने बहुत क्रोध किया अब भी करता हूं और मैं जब थोड़ा सा असावधान होता हूं तो फिर क्रोध आता मैं इसका विनाश करूंगा ये दूर करने का ढंग रोकने का ढंग जीव आत्मा जिस विषय में थोड़ा सा सहयोग दे देता है उस विषय से उस आचरण से अपने को बचा नहीं सकता हटा नहीं सकता असमर्थ रहता अंत में आप देखेंगे कि इन अविद्या कुसंस्कार अन्याय उल्टी उपासना में जीवात्मा का सहयोग चलता रहता है और ये बाधक जीव के जो बने रहते हैं यदि जीवात्मा पूर्ण रूपेण इनका विरोध कर देवे कभी भी सहयोग न दे इनमें तो उसमें रोकने में समर्थ हो जाता है अब विराम सम्मान्य विद्युतगण धर्म प्रेमी सज्जनों संस्कृत भाषणम शुद्धम कर्तुम वयम यतामहे यद यद वाक्यम अहम वदामि तत तत शुद्धम अस्ति इति न मंतव्यम किम भवता यद यद वाक्यम उच्यते तत् तत् सर्वं शुद्धम एव अस्ति एवं न मन्या महे वयम् यद यद अशुद्धम प्रतीयते तत् तत् भवता ज्ञापनीयम तस्य अहम संशोधनम करिष्यामि किम अवगतम साधक महावादक किम अवगतम भवता यद यद वाक्य अशुद्धम किम यद्यत् वाक्य वाक्ये वा वाक्यानि तो बहुवचनम लिंग भेद है भवता तो वाक्य इति पुल्लिंगः उक्तः वाक्यम इति नपुंसकम किम विज्ञातम नी वाक्यानी नपुंसंगानी हाँ, यानी यानी वाक्यानी यानी यानी वाक्यानी वाच्यानी यद्यद् वाक्यम् अशुद्धं वदति तद् तद् शुद्धं करणीयम् हम्म। साधक महाभागः मन्दगत्या किमर्थं वदति यतो अभ्यासः न कृतः अवगतम् अनभ्यासेन एतद् भवति यदि साधक महाभागः अभ्यासमकारसीत् तर्हि किमभूत् अभविष्यत् लिङ्गकारे सम्यक् वक्ता अभविष्यत् हम्म। सम्यक् वक्ता अभविष्यत् सम्यक् अवक्ष्यत् हा तर्हि द्वयोरपि वाक्यं तु समीचीनं दृश्यते न वा यदि साधकमहाभागः अभ्यासम् अकरिष्यत् तर्हि सम्यक् हाँ, सन्दीप महाभागे भविष्यत् अवक्षयत् सम्यक् रूपेण अवक्षयत् अवक्षित भविष्य अवदिष्यत भविष्य सुमेरु प्रसाद का जाति थी बस हाँ। किम विज्ञातम ध्रुवदे महोदय लिंगल कार्य भवता एकम वाक्यम ईदृश्यम निर्मातव्यम यद भविष्यत काले लिंग काल से लिरण लकार वाक्यम भवेत भविष्यत काले यदि सह परिश्रम आकर्षित यदि पुनः किम उक्तम यदि यदि सह परिश्रम आकर्षत तरी सफलम अभविष्य यदि वह परिश्रम करेगा वो तो सफल हो जाएगा यदि स परिश्रमम आकर्षत तरी सफलम अभविष्य सकलम किम सम्यक्तया भूतने वा सुमेर प्रसाद मावाजे एतेन मावाजेन उक्तम यदि स परीक्षा में करिष्यत तर्हि विद्वान् नहीं सफलः भविष्यति किन साधु महाभागे व्याकरणविद्वान् उक्तं सत्यमेव भूतकालस्य वाक्यं पुनः भिन्नं कथं स्यात् काल से यदि वह परिश्रम करता हाँ। तो वह सफल हो जाता हाँ। इसका अनुवाद बताइए द्रौपदी महोदय अस्य अनुवाद यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता भूतकाले भूतकाले अपि एतद् एतदेव दृश्य समानं दृश्यते न पुनः ज्ञानं कथं भवेत् भूतकालस्य वाक्यमिदं वा भविष्यत्कालस्य कथं ज्ञानं भवेत् प्रकरणेन ज्ञानं भविष्यति भविष्यते अपि इन्द्रियं भवति किं यदि भविष्यत्काले एवं वदेत् यदि सः परिश्रमं करिष्यति सः सफलो भविष्यति अत्र को दोषः भविष्यति तो लिट् कार जाते ना लिङ्ग् कारः करणीय आसीत् सम्भावना तु यदि शब्देन षट्लकारे यदि शब्देन काले प्रयोग एवं वयं लिङ्कारस्य भविष्यत्काले प्रयोगं कर्तुं यतामहे एवं हा यथा भविष्यत्काले यदि स देवदत्तः परिश्रमम् अकरिषत् तर्हि स उत्तीर्णौ अभविष्यत् इदमस्ति लिङ्काल भूतकाले भूतकाले यदि देवदत्तः परिश्रम अकृषत तरही स उत्तीर्णो अभविष्यत इदम वाक्य में जातम भूतकालस एवं एव वयम लिटिल कालस स्थाने लिंग काल से प्रयोग में कूर्म है एवं कथम भविष्य एवं परीक्षा में कूर्म है संदीप मावाग कथम वाक्य भविष्य लिंग कारे कार्य लिंग काल से प्रयोग भविष्य काले यदि यदि उपपदे लिंग लकारो यदि उपपदे हाँ। लिंग सह परिश्रम पुनः विधि लिंग जाते हैं चेत विधि भवति यदि शब्द हाँ। यदि हाँ। भवति पूर्वं तदा लिंग भवति लिंग लकारा कथयति सह परिश्रम कुरियात हाँ भविष्य कार्य हाँ लकार से प्रयोग निषेध एवं परीक्षणीयम अर्थात संशय कोटि वर्तते संशय कोटि वर्तते लिविंग प्रयोग भविष्य भवती न वा पुनः परीक्षा कर्तव्या ध्रुवदेव महोदय भगवान एवं जापे तू जब मैं आठ वर्ष का था तो पढ़ता रहता था इसका इसकी संस्कृत बनाइए भगवान निर्माण रणवीर महोदय यदा अहम अष्टवर्षीय अभूवम पठन आसम पठन आसम भगवान किम निर्माश्य थी पठन अभूवम पठन अभूवम पठन आसम हाँ भगवान किम निर्माश्य थी एवमेव निर्मापयिष्यामि भगवन् यदा अहम् आसम् तदा अहम् पठनासम् वा पठ्यमानः आसम् अत्र इदं वाक्यं केन कारणेन किं नियुक्तं भवता तत्र तु को भवति तत्तु सन्दीप महोदय विशाल महोदय शानच परते कस्मिन् काले वा कस्मिन् विधु भवति यदा कापि क्रिया हाँ। चलन् अस्ति वर्तमाने अस्ति हम्म। अधुना वर्तमानकाले भूतकाले वा तस्मिन् शानत् प्रत्यये सन्दीप् महोदय कर्ता भवति तस्य अर्थे शानत् भवति एतत् बहु सरलम् उक्तं भवता कर्ता तु सर्वत्र भवति तो के क्षत्रिप्रत्ययत्र क्रिया निरन्तरेण भवति तत्रैव तस्य प्रयोगः भवति निरन्तरक्रिया तु तो भवति चेत् तो एतत् गच्छति तत्र निरन्तरक्रिया अस्ति देदत्त गच्छति निरन्तरक्रिया अस्ति तत्र शानति सत्रीशात् वदतु कथं विकल्प कस्य कस्य विकल्पः सः देवदत्तः गच्छति सः देवदत्तः गच्छन् अस्ति वा उभयं भवितुमर्हति तर्हि निरन्तरक्रिया तत्र अस्ति न वा निरन्तरक्रिया नियमो तु नास्ति विकल्पेन तत् वर्तमाने या क्रिया भवति तस्य स्थाने तस्यापि प्रयोगो भवितुम् अर्हति कस्य सयवर्थ वो देवदत्त गच्छति देवदत्त गच्छन एक ही अर्थ है द्वयोर एक अर्थ तो नास्ती कथन गच्छन गच्छति अथवा गच्छन कस्मिन् प्रयोगे गच्छति प्रयोगे गच्छति प्रयोगे भवितमर्हति देवदत्त जाता है और देवदत्त जा रहा है अत्र वेदो अस्ति न वा उभयर्थं गच्छति अस्तु अधुना विरमामहे आपने कल सुना था कि मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा करने में हमारे पास में पूर्व जन्म के और इस जन्म के बाधक कौन कौन से हैं कितने हैं ये व्यक्ति को जानना चाहिए हमारे जीवन के मुख्य प्रयोजन को पूरा करने में परिवार समाज राष्ट्र विश्व बाहर के बाधक कौन कौन से हैं कितने हैं हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य को पूरा करने में हमारे पास में पूर्व जन्म के साधक कारण और इस जन्म उपार्जित साधन प्रयोजन को सिद्ध करने वाले साधक कितने कौन से हमारे माध्यम से आजकल कितने साधन साधक उत्पादित किए जा रहे हैं और कितने बाधक उत्पादित किए जा रहे हैं ये जानना साधक जी दोहराएंगे क्या समझ में आया सारा इस विषय को कैसे समझा सकते हैं आप हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अथवा कृतकृतता प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन हमको कौन कौन से साधन जो है जुटा सकते हैं और कौन कौन से बाधक हैं जिनको हटा सकते हैं हम्म। वो चार बाधक बताए गए और चार साधक बताएंगे हमारे जीवन में कृतकृता प्राप्त करने में बाधक कारण अविद्या कुसंस्कार अनुचित उपासना और अनुचित व्यवहार और हमारे जीवन में कृत्य कृत्यता प्राप्त करने के लिए साधक साधन इसके विपरीत बताए हाँ जी अब आप बोलेंगे इसका वर्णन कैसे करेंगे आप मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा करने में पूर्व जन्म के और इस जन्म के कौन कौन से बाधक हैं ये जानना चाहिए मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन को पूरा करने के लिए इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के कौन कौन से साधन हैं और इस जन्म में हमने क्या क्या साधन उपार्जित किए हैं इनको भी जानना चाहिए जैसे कल बताया था साधक जी ने भी उनको दोहराया पहले है अविद्या दूसरा है अधर्म अन्याय तीसरा है कुसंस्कार चौथा अनुचित उपासना अनुचित हाँ, विपरीत उपासना आ, ये हमारे जीवन में मोटे मोटे रूप में चार मुख्य बाधक है तथा इसके विपरीत विद्या धर्माचरण तथा न्याय युक्त आचरण शुद्ध उपासना एवं सुसंस्कार ये साधन रूप में हमें जान लेने चाहिए इन्हीं वर्गों में व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न रूप में अपने आप को रखता है व्यवहार करता है एक बात वो ये नहीं जानता अच्छे प्रकार से पूर्व जन्मों के मेरे मन में बाधक क्या क्या हैं इस जन्म में मैंने कितने बाधक अब तक खड़े किए हैं वो नहीं जानता ये आलस्य प्रमाद के कारण वह ये भी नहीं जानता कि समाज की ओर से परिवार की ओर से राष्ट्र विश्व की ओर से क्या क्या बाधक उपस्थित हैं आज वो ये नहीं जानता आलस्य प्रमाद के कारण तो दोनों वर्गों में यही बात है न तो वो यह जानता कि पूर्व जन्म के इस जन्म के बाधक मेरे पास में कौन कौन से और साधन कौन कौन से हैं और ये ये भी नहीं जानता समाज राष्ट्र की ओर से कौन कौन से साधन मेरे लिए उपस्थित हैं और कौन कौन से बाधक मेरे लिए उपस्थित हैं ये भी नहीं जानता और नए नए बाधकों को उत्पन्न करता जाता है उसको ध्यान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं पूर्व के बाधकों की पुष्टि करता जाता है और नए नए बाधकों को उत्पन्न करता जाता है व्यक्ति और ये मानता है मैं उन्नत हो रहा हूं यदि आप इन बातों को इन भिन्न भिन्न वर्गों को नहीं समझते और जो बाधक है पूर्व जन्म के हों इस जन्म के हों उनके विनाश के लिए हटाने के लिए पूरा प्रयास नहीं करते और उनका उत्पादन बंद नहीं करते क्या समझ में आया उनको दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करते अथवा उनका उत्पादन करना जो है उसको बंद नहीं करते अच्छे विचार संस्कारों को सामग्री को आप नहीं बढ़ाते समाज की ओर से जो परिवार की ओर से आचार्यों की ओर से जो हमको चीजें मिलती हैं विद्या धर्म आदि उनको हम उचित रूप में उपार्जित नहीं करते जितना कि ठीक ठीक पुरुषार्थ शिष्टाचार अनुशासन में रह के उन साधनों को उपार्जित किया जाता है वो आप नहीं करते उदाहरण के रूप में जितना आप पढ़ते हैं आप दर्शन संस्कृत भाषा धार्मिक ग्रंथ वो जितने परिश्रम से जितने सावधानी से पढ़े जाने चाहिए वो नहीं पढ़े जाते आलस्य प्रमाद अथवा अपनी बुद्धि ये काम करती है कि मुझे सब आता है तुष्टि दोष इसलिए वो व्यक्ति पूरा परिश्रम नहीं करता कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से निर्वाचन विवेचन पृथकत्व परिज्ञान करके और इसके अनुरूप व्यवहार जब नहीं करता तो निश्चित रूपेण विफल होगा और यदि इन वर्गों को अच्छे प्रकार से जान करके इसी के अनुरूप यदि व्यवहार करता है तो निश्चित रूपेण सफल हो जाएगा और बात आपको सुनाई गई थी समझ रखिए कि व्यक्ति अपने दोषों को क्यों नहीं छोड़ पाता यद्यपि उसमें अनेक कारण हैं जिससे वो छोड़ नहीं पाता और एक कारण यह है कि वो अपने दोषों का समर्थन करता है अपने दोषों का पूर्ण रूपेण विरोध नहीं करता इसलिए छोड़ नहीं पाता दोहरा लो क्या कहा अपने दोषों को पूर्ण रूपेण क्यों नहीं छोड़ पाता इसका कारण दोहराओ दोषों का समर्थन करने से और उनका पूर्ण विरोध न करने से वो अपने दोषों को नहीं छोड़ पाता उदाहरण के रूप में ले लो शरीर से चोरी करना और शरीर से चोरी छोड़ना शरीर से चोरी छोड़ना सरल है पर मन से चोरी छोड़ना सरल नहीं है आप क्या अनुभव करते हैं हाँ जी बोलिए चोरी के संदर्भ में मुझे प्रतीत होता है कि मन से भी छोड़ना सरल है ना इसको दोहराइए जो मैंने कहा शरीर से चोरी छोड़ देना सरल है और मन से चोरी छोड़ना कठिन है कठिन है ये आप अनुभव करते हैं या नहीं ये बताओ आप भी बोलो करते हैं हाँ हाँ नहीं करते आप बोलो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मन से भी छोड़ना सरल है शरीर और मन की तुलना हो रही है हाँ प्रकरण तो ये देखना दो बातों में है कि शरीर से चोरी छोड़ना सरल है या मन से छोड़ना सरल है ये ये तुलना हो गई है मन की मन अपेक्षा तो कठिन है बस ये बताओ प्रकरण को पकड़ना चाहिए ना ध्यान और कहीं चला जाता है कहीं लेखनी में भी चला जाता है व्यक्ति शरीर से चोरी छोड़ देता है और मन से चोरी होती रहती है चोरी करता रहता है वो अब प्रसंग है कि वो मन से चोरी क्यों नहीं छोड़ता वो मन से चोरी इसलिए नहीं छोड़ता वो अपने चोरी का जो दोष है चोरी उसका पूरा विरोध नहीं करता किंतु उसका समर्थन करता है इसलिए नहीं छोड़ सकता यदि देखना हो तो आप अपने व्यवहार में देख सकते या नहीं आता आपके अनुभव में ऐसा ये पकड़ में नहीं आता कि हम उसका समर्थन कैसे करते हैं ये पकड़ में नहीं आता हम उसका पूर्ण रूपेण विरोध नहीं करते आज विशाल कुछ आता है समझ में कि हम पूरा विरोध नहीं करते ये कौन सी अवस्था है आधा करते हैं चौथाई करते हैं और समर्थन भी करते रहते ये कौन सा भाग है हम्म? हाँ जी साधक जी बोलिए हाँ आता है के दोषों को चोरी की बात को मन में समर्थन करते रहते हैं और उनको छोड़ते हैं एक हम उदाहरण देते हैं जिससे ये बात स्पष्ट हो जाए देखो मैं और आप अच्छे प्रकार से जानते हैं जलती हुई अग्नि में हाथ डालने से जल जाएगा भयंकर पीड़ा दुख होगा ये जानते हैं हम मन से भी इसका विरोध करते हैं हाथ डालने का और हाथ डालने का समर्थन नहीं करते अब क्या समझ में आया नहीं आया हाँ हाँ परिपक्व ज्ञान है परिपक्व ज्ञान है अग्नि में हाथ डालने का हम समर्थन नहीं करते क्या करते और अग्नि में हाथ डालने का पूरा विरोध करते करते नहीं करते ऐसा ही काम क्रोध लोभ मोह दोषों को छोड़ने का पूरा विरोध नहीं करते और उनका समर्थन करते रहते अब तो आया समझ में नहीं आया अंतर अंतर देखना हो तो इस अग्नि वाले दृष्टान से आप देख सकते हैं इसी प्रकार ईश्वर अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है और बुरे बुरे कर्मों का बुरा फल देता हम वाणी से तो कहते ही हैं लेखनी से भी लिखते हैं पढ़ाते पढ़ते भी पर ईश्वर अच्छे कर्मों का मन वाणी शरीर से किए होगा निश्चित रूपेण फल देता है अच्छों का अच्छा और बुरों का बुरा तो हमें बुरों का बुरा फल अवश्य ही देता है का पूरा मानने का हम समर्थन नहीं करते अर्थात बुरों का बुरा ही देता है अच्छों का अच्छा ही देता है हम इसका पूरा समर्थन नहीं कर पाते अब क्या समझ में आया ईश्वर अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा ही फल इसका हम पूरा समर्थन नहीं करते इसलिए अच्छे कामों में हमारी रुचि नहीं होती साधक जी दोहराइए क्या समझ में आया कुछ याद हो जाएगा अच्छे कर्मों का अच्छा फल बुरे कर्मों का बुरा फल ईश्वर देता ही है इसका हम समर्थन नहीं करते और उसका परिणाम होता है ये शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते अच्छा आपका मनोविज्ञान बौद्धिक विज्ञान परीक्षा की कोटी में लाके देखते हैं आप में से कौन कौन ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो ये मानते हैं कि पूर्ण रूपेण मानते कि हम मन वाणी शरीर से जितने भी कभी भी अज्ञानता ज्ञान पूर्वक हुआ जो हम कर्म करते हैं उसका एक एक दिन भर फल मिलेगा उसमें कोई संदेह नहीं है ऐसे कौन कौन अपना बताओ हाथ खड़ा करो कौन है तीन जने हैं आप बिना जाने तो नहीं बोल रहे हैं फल तो जरूर मिलेगा निश्चित है मोटे रूप में तो हम कहते तो हम भी यही है लिखते भी हमें सिद्धांत रूप में मना नहीं करते पर वो मन वचन कर्म से जैसे अग्नि के विषय में सुनाया आज जल ही जाएगा ऐसा निर्णय हम ईश्वर की ओर से ऐसा मानते हैं या नहीं अग्नि जैसा जब ध्यान देते हैं तो होता है स्वामी जी हाँ जाते हैं आत्मनिरीक्षण से पता चलता है कि जब हमारी मन स्थिति होती है मन में बुरा सोचते हैं चोरी आदि दुष्ट विचार करते हैं हमारा ज्ञान उल्टा होता है कहीं हमारी उपासना उल्टी होती है कभी हमारे और कर्म उल्टे होते हैं उल्टे इतने होते रहते उस विषय में हमें ये पता नहीं चलता या हम शत प्रतिशत ऐसा नहीं मानते कि इन विचारों का इन मानसिक कर्मों का इस अज्ञान का फल ईश्वर जो का तू देगा ऐसा नहीं मान पाते हाँ जी विशाल जी ऐसा अनुभव कर सकते हैं आप तो परिणाम क्या निकालना चाहिए यदि प्रमाणों से सिद्ध है शब्द प्रमाण से सिद्ध है अनुमान प्रमाण से सिद्ध है तो हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूपेण प्रत्येक प्राणी का शुभ अशुभ अथवा ये कहिए ज्ञान कर्म उपासना तीन का फल होता है क्या समझे आप बोलो ध्रुवदेव जी प्रत्येक मनुष्य का ज्ञान कर्म और उपासना का पृथक पृथक फल होता है तीनों का फल होता है वो तीनों के तीनों अच्छे और तीनों के तीनों बुरे इनका दोनों वर्गों का तीन तीन का पूरा फल मिलता है इसमें छूट नहीं सकता इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए व्यक्ति को शिक्षा पूर्वक पहले निर्णय पर पहुंचना और निर्णय को फिर बनाए रखना ये दूसरा कार्य आप परीक्षा पूर्वक निर्णय पर पहुंच गए जो सुनाया और वो निर्णय जो का तो जमा रहे वो उखड़े नहीं भंग नहीं हो जाए दोबारा पहले की मान्यता उसके ऊपर आके नए आरूढ़ हो जाए ये आपको करना ही पड़ेगा यदि आप उसको बनाया नहीं रखते निर्णय किए हुए को सतत तो वो नहीं ठहर सकता आपने कभी योग दर्शन के प्रकरण में पढ़ा होगा क्यों नहीं अभ्यास और वैराग्य के प्रकरण में क्यों नहीं क्या पढ़ा होगा सैतो दीर्घ काल नैरंत्रिय सतकार आशेवीत है दृढ़ भूमि ये पढ़ा होगा ये क्यों पढ़ा ये क्यों ऐसा अभ्यास का लक्षण है अभ्यास की रीति क्यों बताई गई यदि ऐसा नहीं किया जाए तो पहले मान्यता जो खड़ी की स्थिर की वो नहीं ठहर सकती सिद्ध करो ये सत्य ही है ये असत्य ही है अंतिम सार रूप में मंतव्य के रूप में उसको निर्धारित करना फिर उसको वैसा ही बनाया रखना और अभ्यास करते करते करते करते एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना जिससे वो जगह नहीं अपरिवर्तन ना हो अब मेरा